ब्रह्मेण स्थाली मान अरे तू अपना पात्र तोला जिसमें साग वाग खिचड़ी उचड़ी कुछ बनाती है उसको ला तो सही तब भगवान ने उस पात्र को मंगाया जिसमें वो भोजन बनाया गया था स्थाली है तत्कंठ लग्नम किंच शाकान्नम प्राश्य तो कुछ नहीं भूल से जो बटलोई जो मांझी थी उसमें शाप थोड़ा किनका लगा हुआ था भगवान ने वो कपीली में से शाप का कण लेकर के अपने मुख में डाला और कहा अनिल विश्वात्मा प्रियता ऐसा कहकर के भगवान ने अपने मुख में उतार दिया बस उसको डालते ही सब के सारा संसार विश्व का सबका पेट भगवान ने जो संकल्प किया उसको थोड़ा मुंह में डाल करके संकल्प किया तो सारा सारा विश्व तृप्त हो गया और भगवान बोले अच्छा बुलाओ दुर्गाशा जी और दुर्गाशा जी जो शिष्यों के सहित जो अवनर्शन मंत्र का जप कर रहे थे गोता लगा करके और एक साथ सबके जो पेट भर गए ना तो फिर प्राणायाम कहां होता वो सबका प्राणायाम टूटा एक ने मुंह ऊपर को किया देखा दूसरे ने भी और सबके सब समाधि सबकी खुल गई और डकार लेने लगे उनकी भाई अकस्मात हमारा पेट भर गया क्या हुआ है दुर्वासा जी ने कह रही हमारी भी एक दशा है बोला अब तो हम एक ग्रास भी नहीं खा सकते तो फिर क्या हुआ कि महाराजा युधिष्ठिर ने भोजन बनवाया होगा तो व्यर्थ जाएगा और हम कैसे हम तो एक ग्रास भी नहीं खा सकते तब तो वो भगवान के भक्तों से तो डरते ही थे दुर्वासा जी उनके अब यहां से चलो भाग चलो तो अपने शिष्यों के सहित वो दुर्वासा जी जो है वहां से भाग जाते तो इन बातों का स्मरण कर रहे हैं अर्जुन के भगवान ने हमारी कहां कहां रक्षा की वे पौरव पांडवों के युद्ध में मुलवी कुरु युद्ध में यो मम सार्थक भूत हमारे सारथी होकर के दुर्योधन के सैनिकों की आयु को दृष्टि मात्र से जिन्होंने अपहन कर लिया वो तो भगवान उनको हमको वंचित करने वाली अपने अपराधों का स्मरण करता है ये धर्मराज कृष्ण से वे पार्थ हे अर्जुन हे सखे जब ये बोलते थे भगवान श्री कृष्ण कभी कहते थे हे पार्थ हे अर्जुन हे सखे कभी सखा कहते थे कभी मेरा नाम ले देते थे कभी माता के नाम से बोलते थे हे पार्थ तो वो भगवान के प्रिय वचन जब स्मरण आते हैं तो मेरा हृदय व्याकुल हो जाए भोजन करते समय टहलते समय घूमते समय हम्म, वो <clears throat> कभी मैं व्यवचारण दृष्टा हे वयस्य सत्य मुक्ता कभी इधर उधर की बात ऐसी देख करके मैं कह देता अगर हाँ, मित्र तुम सत्य बोलते हो उसका तात्पर्य होता हो तो होता था कि तुम झूठ बोलते हो वक्तोक्तया तिरस्कृत होती ये वक्तोक्ति से मैं उनका कभी तिरस्कार भी कर देता और जैसे मित्र मित्र का अपराध पिता अपने पुत्र का अपराध जैसे क्षमा कर देते हैं ऐसे मेरे अपराध को क्षमा कर देते हैं अर्जुन कहते हैं कि मैं श्री कृष्ण से स्त्री समूहम रक्षण अब मैं वहां से द्वारका से जिन स्त्रियों को ला रहा था वो साधारण गोपों ने हमको पराजित कर दिया वही मेरा ये धनुष है और देखो तद वही धनुष तय शवा धनुष भी वही है बाण वही है वही हमारे घोड़े हैं वही मैं अर्जुन हूं परंतु सब मेरा ये व्यर्थ हो गया जैसे भस्म में किया हुआ हवन उसका कोई फल नहीं होता कपट से की हुई सेवा जैसे निष्फल होती है ऊसर में बोया हुआ बीज जैसे निष्फल होता है ऐसे मेरी शक्ति मालूम कहां चली गई राजन आपने जिनके विषय में पूछा है यदुओं के यादवों के विषय में वो आपस में वो सब लड़ फिर करके सब नष्ट हो गए बस दो चार बाकी बचे त्वया कृष्णम कृष्णान कृष्णानाम स्वर्गाम विप्रशापेन मूढ़ानाम देर का मुष्ट फिर निघ्न कहा ऐसा मध्य चक्तारा पंचा पंचवा पंचावा से अवशेषता पांच चार केवल बाकी इस तरह से अर्जुन वहां का समाचार सुनाते सुनाते हैं भगवान के चरण का ध्यान करते हुए तो उनकी उनकी बुद्धि शांत हो गई और वो युद्ध के समय जो भगवान ने गीता का उपदेश दिया था वो उनको फिर स्मरण हुआ गीतोत्तम ज्ञानम पुनः प्राप्त ब्रह्म संपत्तिया छिन्न दैतपन बस अपनी आत्मा को उन्होंने ब्रह्म स्वरूप समझा और सारे धन की निवृत्त हो गए विश्व को जा रहा इस प्रकार से भगवान महाराज ज्ञापा यद कुल से नाशम सुखता अधिष्ठिरा महाराज युधिष्ठिर ने जब ये सुना कि भगवान अपने जो हैं वैकुंठ को धरातल को छोड़ करके वैकुंठ को चले गए तो उन्होंने भी स्वर्गारोहण का विचार किया और वही सकती हूं वो भी संसार से उपरत हो गई भगवान श्री कृष्ण ने जिस समय धरातल को सोच करके व्यतीत हो गए बस उसी समय से कलयुग में प्रवेश किया युधिष्ठ ने देखा कि अब तो कलयुग का प्रभाव होने लगा और सर्वगुण संपन्न जो अपना पौत्र परीक्षित है उनको राज्याभिषेक कर दिया सिंहासन पर बिठा दिया अनिरुद्ध के पुत्र जो वज्र हैं उनको मथुरा का शासन दे प्रजापति स्त्री करके तथा अनिरुद्ध पुत्रम वज्रम मथुरायाम सूर्यसेन पति कृत्व सूर्यसेन देश का राजा उनको बनाया और प्रजापति स्त्री करके अपनी अग्नियों को जो है अपने में आरोपित करके वस्त्रालंकार वही उतार करके और धर्मराज जो है युधिष्ठिर इंद्रियों को मन में लीन करके और मन को प्राण में प्राण को अपान में अपान को हम्म, मृत्यु में और मृत्यु को देख और उन्होंने ये निश्चय किया जो मृत्यु होती है वो शरीर की होती है और तीनों गुणों को अविद्या में और अविद्या को जीव में और जीव को परब्रह्म में लीन करके उन्हें ये अनुभव होने लगा ये सारा दृश्य प्रपंच जो है सब ब्रह्म स्वरूप है ऐसा उन्होंने निश्चय कर लिया चीर भाषा फटे पुराने वस्त्र धारण करके मेरा मौनी मुक्त मुक्त हो जाओ इस प्रकार से वहां लोकम है और अपने भाई आदियों की प्रतीक्षा न करके युधिष्ठ जी वहां से चल दिए परमात्मा का ध्यान करते हुए और उनके भाई भी भीम आदि जो है के पीछे पीछे चल रही विद्युत कलमशाह संतस तस्में नारायण प्रदेश गति और जाकर के वो वहां उन्होंने बद्री नारायण में जाकर और परम गति को प्राप्त किया पाने विदुर जी ने अपने शरीर को प्रभाष क्षेत्र में जाकर के छोड़ा और अपने अधिकार को प्राप्त किया द्रौपदी ने द्रौपदी ने देखा कि अब पतियों को मेरी आवश्यकता नहीं है तो उसने भी पति नाम अनपेक्षताम ज्ञापता भगवती मतीन कृपा परम था भगवान का ध्यान करके अपने पांच भौतिक शरीर को छोड़ करके श्री कृष्ण को प्राप्त हो गए बोलिए श्री कृष्ण भगवान इधर परीक्षित ब्राह्मणों की आज्ञा के अनुसार और शासन करने लगे उत्तर की जो कन्या ऐरावती है उसके साथ उनका विवाह हुआ चार उनको पुत्र उत्पन्न हुए कृपाचारी को गुरु बना करके गंगा के किनारे और उन्होंने तीन अश्वमेध यज्ञ किए दिग्विजय करते हुए उन्होंने कली का निग्रह किया अब कहा कि सोनक जी ने कहा सूख जी तो कली का निग्रह कैसे किया क्या बात हुई इस कथा को ठीक ठीक आप सुना है तो जी कहने लगे कि ऋषियों जब परीक्षित महाराज ने ये देखा कि अब कलयुग का प्रभाव होता जाता है हमारे देश में तो राजा कालस्य कारण राजा चाहे तो कलयुग में भी सतयुग ला सकता है हाँ। और राजा चाहे तो सतयुग में भी कलयुग आ जाए जैसा राजा धर्मात्मा हो तो इसलिए उन्होंने अपना रथ गिर करके रथ में स्वयं भेंट करके स्वयं कृथम रथमास्था है धनुर्ग्रीत को हाथ में धनुष लेकर के सेना के साथ में लेकर के और वो निकल पड़े रात निर्पता यात्रा कर रहे थे भ्रमण कर रहे थे जहां जहां जाते थे उनको लोग भेंट करते थे विजित प्रावृता ने जग दिए वो जहां जाते थे तो उनको अपने पूर्वजों का यश सुनने को मिलता था पांडवों का यश सुनने को मिलता था महाराज आपके पूर्वज पितामह महाराजा युधिष्ठिर बड़े धर्मात्मा थे भीमसेन बड़े बलवान थे सब लोग पांडवों की प्रशंसा करते थे और कहां तक कहते कहते थे कि भगवान कृष्ण श्री कृष्ण जो है साक्षात तुम लोगों के पांडवों के सारथी बन गए थे जब ये बात सुनते हैं तो भगवान के चरणों में उनकी और भी प्रीति बढ़ जाती है वो तो भगवान ऐसे भक्त वत्सल हैं कि हमारे पूर्वज पूर्वजों का उन्होंने रथ का है एक दिन वो भ्रमण कर रहे थे उसी समय क्या देखा कि एक वृषभ जो है और धर्म जो है वृषभ के रूप में एक पृथ्वी जो है गऊ के रूप में आपस में बातचीत कर रहे हैं वृषभ गए हे भद्रे कल कुशलम किंच कच्चित कुशल पूर्वक अच्छी से तरह से तो हो आपका मुख में मने क्या मेरे तीन पैर टूट गए हैं एक मेरा एक ही पैर रह गया है क्या मेरे लिए तुम शोक कर रही हो क्या आगे सूत्र लोग तुम्हारे ऊपर शासन करेंगे क्या इसलिए तुम शोक हो क्या देवताओं को अपने अपने भाग नहीं मिल रहे हैं इसलिए शोक कर रहे हैं अथवा हे अंग भूर्भारत नाशार्थम कृतावतार से हरे अंतर भानंदा या तुम्हारे भार दूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण भारे और अब धरातल को त्याग करके वैकुंठ को चले गए क्या इसलिए शोक कर रही है हे वसुंधरे इदम तवाभिमूलन कर अपने दुख का कारण बताओ पृथ्वी माता जो बहु के रूप में बोली हे धर्म जो तुम हमसे पूछते हो आप सब कुछ जानते हो जिन भगवान की कृपा से तुम हम चारों पैरों से युक्त थे जिन भगवान ने अनंत गुण निवास करते हैं उन भगवान के चरणों के का स्पर्श हमको प्राप्त नहीं हो रहा है इसलिए मैं तथा आत्मान भगवंतम पृथ्वी ऋषि देवान साधुन इन सबके लिए हमें शोक है आपके लिए भी हमें शोक है पितरों को ऋषियों को देवताओं को इनके लिए हमको तो शोक है और कौन पितरों के लिए तर्पण करेगा देवताओं के लिए कौन यज्ञ करेगा किंच प्रसादम ब्रह्मादेव जाती सा लक्ष्मी स्वग्रह कमलगनम हित्वा तत्पादपंकजम भजते इस तरह से पूर्वाहिनी सरस्वती नदी के किनारे तो महाराजा परीक्षित ने उन दोनों को आपस में बातचीत करते हुए देखा महाराज वहां पास में गए उन्होंने एक राजा के देश में शूद्र को देखा तो हाथ में डंडा लिए वो बैल को धमका रहा है बैल बेचारा डर रहा था तो फिर उस समय महाराजा परीक्षित ने बड़ी गंभीर वाणी से कहा और कहा अरे अस्मिन मच्छरणे लोके इस समय तो लगा मैं राजा हूं तो इन तीन दुखी इन वृषभ और गौ को क्यों दुखी करा मैंने देश तो राजा का बना रखा है कर्म से सुशूद्र मालूम होगा कौन सी बता तो कौन अतस्तम बध योग्य उसी तू निरपराध प्राणियों को दुखी कर रहा है तू बध करने के फिर धर्म जो वृषभ के रूप में धर्म है उनसे कहने लगे राजा हे वृष श्वेत करना पावे नूनस्तम को आपको मैंने आप बताइए मैं आपको तो देख करके मालूम होता आपको ही देवता हूं जब इस तरह से पूछा तो वो वृषभ जो थे वो कहने लगे तो राजन दुख देने वाला कौन है इसको हम नहीं कह सकते विकल्प ये चिद विकल्प बखना आहुरात्मान आत्मा दैव मल्ले परे कर्म स्वभाव न परे प्रथम ये दुख देने वाला कौन है बोले इसमें अनेक मत हैं ये ऐसा हम नहीं कह सकते कि अमुक व्यक्ति हमको दुख दे रहा है के तो केचित विकल्प बसना विकल्पम भेदम बसते आच्छादयन के थे को आदेश दीजिए तस्मात आज्ञाधारकासन यत्र निश्चल वक्त आप हमको आदेश दें हम कहां निवास करें पहले ने पूछा हमको स्थान आप बताइए शौनक जी बोले कि जब इस तरह से प्रार्थना की हे शौनक सूच जी कहते हैं जब इस तरह से प्रार्थना की कलयुग ने तो राजा ने उनको स्थान बताया जूतम देखो जहां जुआ खेला जाता है वहां तुम निवास करते जहां लोग मदरा काम करते हैं वहां निवास करो परस्त्री चर्चा जहां होती है वहां निवास करो जहां हिंसा होती है वहां निवास करो ये स्थान उन्होंने बताया था उन्होंने कलीग ने कहा महाराज आपने ये स्थान तो बता दिए पर ये बताओ ये चारों काम तो आपके शासन में होते ही नहीं आप कहते हैं जहां जीवा पीला जाए वहां रहो तो बिना आपके शासन में जुआ तो कोई होते ही नहीं मदरा पान कोई होता नहीं हिंसा कोई कर नहीं सकता आप बताइए कि तो मैं कहां रहूंगा तो इसलिए कृपा करके ऐसे बताओ जब मैं सुख से सुखपूर्वक रहता सकूं तो, तो मैं याचना आया फिर उसने याचना की तो फिर उन्होंने कहा था अच्छा, सुवर्णम दो जाओ तो सोने में जाओ तब दाना परिवर्तन मदम स्त्री संगम हिंसा वही रंश बस फिर कल युग पसंद हो गया फिर कहा ये सोना चाहिए तो साधुओं के यहाँ नहीं होता फिर तो उनकी गति हो एवं स्थान में जो कलर निवसत परीक्षित ने जो स्थान बताए थे उनमें भी कल निवास करने एक अतः श्रेय जो अपना कल्याण चाह रहे हैं उसमें विशेष करके राजा इनका सेवन करें और करें तरह से महाराजा परीक्षित जो है वो धर्म और राजा महीन धर्मम से शांत और धर्म के जो पैर जो नष्ट हो चुके थे वो उनको पूरा कर दिया चारों पैरों से धर्म था समय महाराजा परीक्षित के शासन अब वो भगवत चरणारिंदम स्मरता अंत काले भ्रमण होते जब तक महाराजा परीक्षित का शासन रहा तब तक जो है कलयुग में का कोई देश में प्रभाव नहीं हुआ प्रवेश को भी कलर न समर्थ हो जिस कलयुग में केवल कलयुग को नष्ट ही तो नहीं किया उनकी कलयुग को मैंने भूल भी तो है ये जानते थे परीक्षित जिस कलयुग में पुण्य तो संकल्प मात्र से ही सिद्ध होते हैं और पाप करने पर नानुद्विष्ट कलिम सम्राट सारंगे सारदो कुशलान्यास सिद्धंती नेतरान कृतान यत कुशल मानी पुण्य तो जो है संकल्प मात्र से ही कोई पुण्य कार्य का संकल्प किया हम ये करेंगे और न कर पाओ तो भी पुण्य मिलेगा झूठे संकल्प करो तो नहीं होगी असत्य संकल्प को हम करेंगे और किसी बाधा हो जाने से न कर पाओ तो आपने शुभ संकल्प तो किया था उसका भी फल मिलेगा कुशलानी आप सिद्धंती आशुतार्थ संकल्प मारते और नेतरानी और पाप करने जो है वो संकल्प कोई पाप का संकल्प मन में आवे तो उतने से ही तुमको पाप नहीं लगेगा वो तो कर ले जब शरीर से कर लेगा तब उसका पाप इसलिए तुलसीदास जी ने कहा कलयुग वेद पुनीत प्रतापा और मनसा पुण्य तो पुण्य का तो मन से हो जाता है पाप नहीं होता कई बार श्री महाराज से एक बात किसी ने पूछ दिया और महाराज ने कहा भाई केवल बात इतनी है कि वो इसलिए ये बात कर रहे हैं क्योंकि इस मृत्युओं से कभी रोक वहां पर मानस पूर्ण मानस पाप करने के लिए शारीरिक कर्म से या तो स्थावरता मरा शरीर से किए हुए पाप आदि के उन्हीं रोके जाते हैं वाचिक पक्ष मृगता वाणी से किए हुए पाप पक्षी मृग आदि की उन्हीं रोके जाते हैं मानस ही रंग जाता मन से किए हुए पाप अंत आदि योनि में भोगे जाते हैं तो इसलिए उन्होंने कहा उसका तात्पर्य यह है कि मन में कोई पाप आ गया तो कोई व्यक्ति ये समझ ले कि मन में पाप की बात तो आएगी और शरीर से भी कर लो इसलिए वहां ये बात कही गई है कि भैया मन में आ गई तो आ जाने को शरीर से मत करो मन साथ हुआ हुआ पाप नहीं मान जाए इसका तात्पर्य यही है कि तुम मन से में जो आपकी बात आई है तो उसका कोई पाप नहीं लगेगा ये बात नहीं है इसलिए बचाने के लिए कहीं ये मन में आ गई तो कहीं शरीर से भी न कर ले इसलिए कहा है मानस पुण्य रोहिणी पापा पर पाप की बात तो मन में आएगी तो भी मन को दूषित करेगी और दोष लगेगा ही चंद्रगान अनुगक्षण मृगों के पीछे भागते दौड़ते बड़ी भूख लगी प्यास लगी चारों ओर जल देखा वहां जल उनको नहीं मिला तो वहां एक ऋषि का आश्रम देखा तो उसमें जल के लिए वहां चले गए जल पीने के लिए वो ऋषि बड़े शांत होकर के समाधि में बैठे थे जितेंद्रियम समारोह स्थितम अविक्रिया वहां <coughs> अनेक मुनि को देखा कृष्ण मृग चरणा छन्नम काले मृग का चरण ओढ़े हुए थे वो ऋषि और समाधि में बैठे थे राजा ने कहा महाराज ने बहुत प्यास हूं मुझे जल चाहिए और तो समाधि में बैठे थे तो उन्होंने सुना तो नहीं था तो राजा हमसे जल मांगा और जब देखा इन्होंने तो हमारा स्वागत नहीं किया सत्कार नहीं किया गलती भी नहीं पूछी प्रॉपर राजा को जो है मुनिम प्रतिष्ठितों का ऋषि के प्रति कुछ क्रोध हो गया हुआ राजा ये पहला ही पहला जीवन में अवसर था हाँ। यहां तो वो मुकुटारिक स्वर्ण का तो उनकी सिर पर भी लगा हुआ ही था कल ये उन्हें आकर के थोड़ा प्रभाव दिखाया और वो उनके हृदय में क्रोध का हो राजा जो है वहां एक मृतक जो सर पड़ा था उसको धनुष की नोक से उठा करके उनके गले में डाल दी और अपने नगर को लौट के चले आए देखे इनकी कैसी समाधि है ये जानबूझ करके आंख नीच के बैठ गए हैं या वास्तविक में इनकी समाधि है ये जानने के लिए वो मृतक सर को लेकर के ऋषि के गले में डाल दिया झूठी समाधि होगी तो एकदम उनकी आंख खुल जाएंगे एकदम उठ के खड़े हो जाएंगे सब पास हो जाएंगे पर उनकी तो सच्ची समाधि थी वो बैठे रहे राजा और सर्प को डाल करके अपनी राजधानी को लौट करके चले आए और अब किसी बच्चे ने जाकर के उनका एक बालक था उससे श्रृंगी उसका नाम था तो उसको कह मैं तेरे पिता के गले में राजा सरफ डाल करके चला गया तो उसने कहा अच्छा अब ये राजा लोग क्षत्रिय लोग इतने अभिमानी हो गए बस कुपित होकर के बोला अच्छा अब मैं इनका शासन करता हूं मन पश्य था मेरे बल को देखो ऐसा कह करके उसकी आंखें लाल लाल हो रही थी श्रृंगी कौशक क्या है तो, तो कम मार कौश की नदी का मैं जाकर के आसमन किया हाथ में जल लेकर के उसने साप दिया एवं लंघित मर्यादा अरे जिस राजा ने मर्यादा का उल्लंघन किया हमारे पिता के गले में मृत मृतक सर्प को डाला तो मैं उसको साप देता हूं कि सप्तमे हनी तक्षपत क्षति तो सातवें दिन उसको तक्षक नाम का सर्प क्या मिलेगा ऐसा कह करके साप दे करके वो श्रृंगी जो था वो अपने आप में आया और आकर के देखा कि पिता तो उसके समाधि में रहते हैं और मरा हुआ सांप उनके गले में पड़ा तो सर्प करण दृष्टा मुक्त कंठ रो बड़ी बड़ी जोर से रोने लगा होता क्यों तो है उसको ये साहस नहीं हुआ कि तो मैं सर्प को लेकर के अलग थी दूँ पिता के गले में पड़ा है बालक था डरता था मरी हुए सर्प से डरे अब रोए खड़ा होकर के जोर जोर से तो और साफ देने में इतना भी तो राजा को साफ तो दे दिया तो वैसे मृतक सर्प से डर रहा खड़ा खड़ा हो रहा पुत्र विलाप अनुचित करता है जोर जोर से जब रोने लगा तो धीरे धीरे वो शनि मुनि के ग्रंथाणों के द्वारा जब शब्द पहुंचा तो उन्होंने नेत्र खोले तो पहले देखा कि मृतक सड़क पर आया तो उसको लेकर उन्होंने सीख दिया और सारे तस्मात कौन रोदिशी बेटा कौन रोते हो क्या बात है इसने तुम्हारा अपराध किया तो उसने सब निवेदन कर दिया पिताजी महाराजा परीक्षित आए और आपको गले में सर डाल दिया मैंने तो उनको आशाप दे दिया जब साप की बात सुनी तो ऋषि ले बेटा बड़ा महत पापा तेने तो बड़ा भारी पाप किया थोड़ी सी अपराध पर इतना बड़ा भारी दंड कर दिया हे पप्पू तू बड़ा ना समझ है राजा तो भगवान के समान माना जाता राजानम गृह समान दृष्टि ना अरे जिसके राज्य में हम शांति से रहते हैं अपने अपने धर्म का पालन करते हैं तो राजा के मरने पर क्या दशा होगी तत्व नृणाम वर्णा समाचार ये तो धर्म नश्य तो वर्णा सफल धर्म का विनाश हो जाए वर्ण शंकर हम्म, हम्म, वर्ण शंकर हो गए ये सभी लोग वर्ण शंकर हो जाए शाम का दो दोष आ जाएगा फिर भगवान की प्रार्थना करने लगे हे कृष्ण अपक्त बाले ने महाभारत रात्रि पापम को तो। महाराज ये बचपन की इसकी बुद्धि है हे भगवान आपके भक्त महाराजा परीक्षित को जिन्होंने साफ दिया है इसने हमारे बच्चे ने बड़ा अपराध किया है इसके अपराध को आप क्षमा करें और समीप मुनि ने देखा कि महाराजा परीक्षित को तो पता भी नहीं है हमको साथ लग गया होगा उनको तो ये पता भी नहीं होगा तो उन्होंने अपना एक शिष्य भेजा कि जाकर के महाराजा को सूचित तो कर दो इधर महाराजा परीक्षित आए जब उन्होंने अपना मुकुट रूप उतार के रखा जलवन किया तो उस अपने आप विचार करने लगे कि आज हमने बड़ा अपराध किया निरपराधे ब्राह्मणी मई मया अपराध कर उन महात्मा का अपराध क्या था वो ध्यान भजन कर रहे थे भगवान का ध्यान कर रहे थे मैं मृतक सर्प उनके गले में जा रहा था उसका फल हमको शीघ्र मिलना चाहिए महाराज परीक्षित जो मैंने अपराध किया है तत्काल उसका हमको दंड मिलना चाहिए यथा पुनरेवन न कुरियाम जो फिर मैं ऐसा अपराध न करूं जीवन में ब्राह्मण के क्रोध से उत्पन्न हुआ वो क्रोध अग्नि मेरी राजा और सेना और सबको नष्ट कर